सप्तम मंत्र चले क्या प्रारंभ से उपनिषदम भो ब्रीहि तुक्ता त उपनिषद ब्राह्मी भावत उपनिषद उपनिषद अब्रूमेति भो उपनिषद ब्रूहि शिष्य इतने सुनने के बाद गुरु से कहता है प्रारंभ क्या था शिष्य का प्रश्न से प्रारंभ हुआ था तो उपनिषद जो रहस्य विज्ञान जो हमको चिंतन करना है उसको बताइए इति शिष्य वाक्य समाप्ति के लिए आचार्य वाक्य उत्ता त उपनिषद त का अर्थ ते तुभ्यम तुभ्यम उपनिषद उक्ता विद्या तो कही गई उपदेश कर लिया ब्राह्मी बाबत उपनिषदम अब्रम इति क्या कहेगी उपनिषद ब्राह्मी ब्रह्म संबंधी परमात्मा संबंधी उपनिषद विद्या मैंने तुमको कह उपदेश कर दिया अब्रूम इति इस अच्छा में टीका में अच्छा भाष्य में अवतरणिका एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्य उमाच एवं अनुशिष्ट आचार्य के द्वारा अनुशासन किया गया शिष्य ने प्रश्न किया था केने सीताम तो वहाँ से लेकर के आचार्य ने उपदेश किया अनुशासन शास्त्र अनुशिष्ट से बनता अनुशिष्ट शिष्य आचार्य वाच आचार्य से कहा उपनिषदम बहु ब्रूहीति हाँ। सगुण ब्रह्म उपासनम ऐश्वर्य फलकम उक्तम इसके पहले ऐश्वर्य फलकम सगुण ब्रह्म उपासनम उक्तम ये इसका नहीं इसका तो नहीं अच्छा अच्छा एवं अनुशिष्ट अच्छा ष्ठ हाँ अच्छा हाँ यह जो तद्भनम नाम तद्ध तद्भनम पहले कहा था ये सगुण ब्रह्म उपासना कहा गया और जो इसे उपासना करता करता है उसका फल कथन कर दिया सर्वाणी भूतानि अभिसंवाचति एनम ये ऐश्वर्य फल कथन किया जैसे ब्रह्म की प्रार्थना करते हैं ऐसे उपासक भी से प्रार्थना करते हैं सगुण ब्रह्मण उपासनम सगुण ब्रह्म उपासनम ऐश्वर्य फलकम ऐश्वर्यम फलम यस्य ऐश्वर्य जिसका फल है सगुण ब्रह्म उपासन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है सद्यमुतित निर्विशेष पर ब्रह्म के ज्ञान से पर ब्रह्म ज्ञान के बिना सगुण ब्रह्म उपासना से सगुण ब्रह्म साक्षात्कार कर ले तो भी सद्य मुक्ति नहीं है ब्रह्म लोक में जाएगा ऐश्वर्य फल प्राप्त करेगा बहुत भोग करेगा सद्य मुक्ति के लिए निर्विशेष अहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान तो ये उपासना कहा तत्र विरक्त जो विवेकी होता है विचार करता है विचार के अनुसार वैराग्य होता है विचार के बिना जैसे बच्चा कुछ मिला पकड़ लेता है बड़े खुश हो जाता है मुख में ले लेता है उसकी बुद्धि इतने विचार के लिए समर्थ नहीं है इसी प्रकार बहुत समझदार व्यक्ति भी जो मिथ्या वस्तु के पीछे भागता है मरना है तो भी सांसारिक वस्तु के पीछे भागता है वो बच्चा जैसे है उसको विवेक नहीं कहा जाता है विवेक होने पर वैराग्य होता है वस्तु क्या है नित्य अनित्य वस्तु विवेक सत्य असत्य क्या है ये वस्तु क्या है उसको प्राप्त करने से क्या होगा हम जीवन किस लिए मिला कितने दिन रहना है ये सब विचार करने वाला ही विरक्त होता है तो सगुण ब्रह्म उपासना से ऐश्वर्य फल सुनने पर सगुण कोई तो यजेत स्वर्ग काम सुन करके या करने लगते स्वर्ग मिलेगा याग करना निषेध नहीं किंतु स्वर्ग फल के लिए कोई सत्कर्म करता है ये कर्म तो फल तो देगा किंतु अनित्य फल है स्वर्ग स्वर्ग फल प्राप्त करेगा ये कितने बार इसके पहले स्वर्ग गया है मालूम नहीं है अनादिकाल से ही तो कर रहा है कभी स्वर्ग कभी नरक कभी मनुष्य कभी पशु बनता है कभी पेड़ बनता है ये तो चल रहा है कितने बार गया स्वर्ग में फिर अभी वही स्वर्ग के लिए ये तो स्वर्ग के लिए भी कर्म करना और जो यहाँ केवल भोग करने के लिए कर्म करते हैं कि भोग मिल जाएगा यहाँ तो जितने प्रारब्ध लेकर आए इतने ही भोग करना पड़ेगा तो भी विश्वास नहीं होता ज़्यादा भोग मिल जाए ज़्यादा धन मिल जाए ज़्यादा सम्मान मिल जाए सम्मान भी भोग भी धन भी जो आपको मिलना है इस जन्म में पहले से निश्चित है कुछ भी करे मरे पिटे कुछ भी करे अधिक हो नहीं सकता है कम भी नहीं होगा है तो प्रारब्ध में भोग मिलेगा नहीं तो नहीं होगा इसे वो निश्चिंत हो जाना चाहिए नहीं समझ करके बड़े समझदार व्यक्ति भी अंतिम तक मरने तक सोते ये मिल जाए यह मिल जाए ऐसे करते करते मर भी जाते हैं नहीं प्राप्त होता है यदि प्रारब्ध में नहीं है और जो नहीं चाहता भी यदि प्रारब्ध में तो प्राप्त होगा इसलिए ये छोड़ दे करके साधन करना चाहिए विवेक ही करना है मेरे प्रारब्ध में यदि नहीं तो क्या चाहने पर मिल जाएगा चाहते सब ऐसे यदि चाहने पर मिल जाए तो सब लोग राष्ट्रपति हो जाएंगे एक साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही बनकर बैठेंगे छोटे मंत्री भी कोई नहीं रहेगा और प्रजा भी कोई नहीं रहेगी सब कोई हमारा मंत्री बन जाए राजा बन जाए सम्राट बन जाए नहीं होता है प्रारब्ध में है तो इसलिए ये चिंतन छोड़ करके फिर भोग भी क्या इस लोग को भोग मिल गया तो क्या हो गया भोग करके मरना कितने करोड़ों करोड़ बार भोग करके मर करके मरना जन्म ऐसे करते करते करते करते अभी मनुष्य जन्म मिला फिर ऐसे करके खत्म कर देना तो उस ब्रह्मलोक जाएगी तो क्या होगा ब्रह्मलोक में सुख बहुत है वहाँ से सुख भोग कर लिया तो आ ब्रह्म का पुनरावर्तन जो सद्य मुक्ति जो चाहता है तो विरक्त होता है ब्रह्मलोक से भी विरक्त होता है ऐश्वर्य सुनकर के तो खुश हो जाते हैं बड़ा अच्छा है कुछ तो साधु लोग चमत्कार तंत्र साधना करना चाहिए कुछ हमको चमत्कार मिल जाए चमत्कार हो जाए तो लोगों को देखेंगे लोग हमारे पीछे आएंगे बड़े प्रसिद्ध हो जाएंगे धन भी इकट्ठे हो जाएगा फिर मरना तो नहीं है या मरना पड़ेगा चमत्कार आ जाए धन संपत्ति इकट्ठे हो जाए लोग बहुत हो गए फिर मरने का तो कहां जाएगा सारे जितने धन इकट्ठी करता है वो धन का ऋणी बनता है आगे उसको फिर वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सेठ के मकान बनेगा तो वहाँ पत्थर ढोने के लिए क्या बनेगा खचर बनेगा ऐसा नहीं तो और कुछ सेवा करे तो कुत्ता बन जाएगा घर में रहेगा ये सब है इसलिए इकट्ठी करना कोई जरूरत नहीं लेकर कोई ना जा सकते और जो नहीं मिलने वाला कभी नहीं मिलेगा यदा भावी न तद भावी भाविच्य न तदन्यथा यदा भावी न तद भावी जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा यदा भावी न तद भावी भावी चेन न अन्यथा और होने वाला है अन्यथा नहीं होगा होकर के रहेगा कुछ नहीं करो अपने कमरे में बैठो अंदर भजन करो दरवाजे खटक आए आप सिंहासन में बैठे राजा बनना है तो लेकर लेकर बना देंगे राष्ट्रपति बना देंगे यदि बनना है तो भावी चैन न तदन्यथा इति चिंता विषघ्नोयम बोधो ब्रह्म निवर्तक ये चिंता रूप विष को नष्ट करने वाले बोध है इति चिंता विषघ्नोयम चिंता रूप बड़े विषय है चिंता विषय नष्ट कर देता है जितने जीव, जीवित व्यक्ति को समझदार व्यक्ति को चिंता आने पर उसको जला देती है चिता अग्नि की अपेक्षा चिंता और अधिक है अग्नि तो सूखी लकड़ी को जलाई चिंता तो जीते जी मनुष्य को समुद्र व्यक्ति को जला देती है चिंता रूप विष को नष्ट करने वाला अयम बोध ब्रह्म निवर्तक ब्रह्म का निवर्तक है ये पूरा हमेशा ध्यान रखना यद भावी न तद भावी भावी चेन्न तद अन्यथा मन में कभी-कभी संकल्प आ जाता है इच्छा हो जाती है मिल जाए तो हमको अच्छा है बड़ा चमत्कार में हम मिल जाए तो बड़ा अच्छा है तुरंत जद भावी न तद भावी भावी चेन्न तदन्यता चमत्कार धन शब्द मिलकर करना क्या जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला वो जो नहीं कर पाए मर गया तो उसको इकट्ठी करके चले गया तो क्या हो गया वो आगे गए कहीं कर कराएगा तो सब भगाएंगे गुरु जी का भंडारा कहेंगे और बन कराएगा आएगा तो मुख्य जिसको ज्ञान नहीं हुआ कितने करोड़ रुपया इकट्ठे होने पर मोक्ष होगा मालूम है कितने भक्त कितने करोड़ रुपया इकट्ठे हो जाने से मोक्ष हो जाएगा मोक्ष नहीं हुआ तो फिर क्या होगा यदि आसक्ति है वहाँ आएगा आएगा तो उस समय को पूछेगा भले ही फटो की पूजा होगी वो आएगा कुछ दूसरे विषय भी कोई पूछेगा साधु बनकर आया नारायण करेगा तो भागो भागो कहाँ से आ गया कड़िया <laughs> नहीं तो कुत्ता बन गया दूर से पत्थर फेंकेंगे इसलिए ये सोच करके विवेक होना चाहिए कुछ जो प्राप्त नहीं होने वाला इस जन्म में कभी नहीं मिलेगा होना है तो प्रारब्ध में है इसके लिए नहीं सोच ले छोड़ दे तो साधना अच्छा बन जाएगा सारा समय इसमें चल जाता है और इसी लोक के बाद परलोक के लिए साधन करने से प्राप्त होगा स्वर्ग के लिए ब्रह्मलोक के लिए कोई कर सकता है किंतु करने के बाद भी तो क्षीण पुण्य मरते लोकम विसंति समाप्त हो जाएगा इसे जब ब्रह्मलोक में विरक्त होता है इसको कहते उत्तम अधिकारी अधिकारी में श्रेष्ठ होता है वैराग्य है विचार है तो वैराग्य नहीं तो उत्तम अधिकारी नहीं है हाँ, शास्त्र का ज्ञान हो जाए पठन पाठन कर ले प्रवचन भी कर ले बड़े वक्ता बन जाए कुछ भी हो जाए वो अधिकारी नहीं ब्रह्म विद्या के लिए उत्तम अधिकारी तो होता है विरक्त तत्र विरक्त ऐश्वर्य में ब्रह्मलोक आदि ऐश्वर्य में विरक्त है विरक्त होने पर ही वही उत्तमाधिकारी ऐसे उत्तमाधिकारी परम रहस्यम पृच्छति रहस्यम परमं च तद रहस्यम च रहस्य गोपनीय अत्यंत गोपनीय पूछता है यही उपनिषद का अर्थ है संहिता उपन जीविका उपनिषद व उपनिषद इव कृत्य उपनिषद कृत्य रहस्य उपनिषद का तो ब्रह्म विद्या है रहस्य है ब्रह्म विद्या भी रहस्य है पूछता है एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्य उवाच उपनिषदम भो ब्रूहीति आचार्य ने कहा रहस्य विज्ञान तो तुमको मैंने बता दिया सो उक्ताते तो उपनिषद ब्राह्मी बाबते उपनिषद अवरो जो परमात्मा संबंधी पहले तो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर लिया आगे थोड़ा सगुण ब्रह्म उपासना कहा टीका मैं भाष्य में उपनिषदम रहस्यम चिंत्यम भो भग भगवन ब्रूहि इति एवं उक्तवती शिष्य आचार्य आ आचार्य उक्तवती शिष्य उक्तवत् उक्तवान शिष्य उक्तवती शिष्य उक्तवत प्रत्यांत है कहने शिष्य ने कहा तो आचार्य आह उपनिषदम रहस्यम य चिंतम भो भगवान ब्रूही उपनिषद का तो रहस्यम जिसको मुझे चिंतन करना है जो आप वही चिंत्य है एक ही चिंत्य हुई है भो भगवान ब्रूही जैसे भगवान कहते ज्ञेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि जो जानने योग्य मैं कहूँगा एक ही ज्ञेय है ब्रह्म इस प्रकार जो चिंतनीय मनुष्य को अधिकारी को चाहिए वो मुझे कहिए ऐसा कहने पर आचार्य ने कहा उक्ताते उपनिषद उक्ता का अभिहिता कही गई ते तव उपनिषद का पुनः सा इत्याह वो क्या उपनिषद है ब्राह्मी भावत उपनिषदम अब्रुम ब्राह्मी का तो ब्रह्मण परमात्मन इयम इति ब्राह्मी ब्राह्मण नहीं ब्र ब्रा कहीं दीर्घ हेतु काट देना ब्राह्मण यम इति ब्राह्मी ब्रह्म का तो परमात्मन परमात्मा के संबंधी जो विद्या है उपनिषद है तुमको मैंने कह दी यम ताम परमात्मा विषयत्वाद अतीत विज्ञानस्य क्योंकि अतीत जो विज्ञान ज्ञान का उपदेश किया गया तो परमात्मा विषय का परमात्मा का ही ज्ञान जो ज्ञान से मुख्य परमात्मा का ज्ञान अब परमात्मा का ज्ञान भी अहमस्मि परब्रह्म इसी रूप से नहीं कि तत् परमात्मा वह ऐसा नहीं भेद भिन्न तो दृष्ट परमात्मा ज्ञान वो मुख्य साधन नहीं है परमात्मा को विषय करने वाले आत्मज्ञान अहम अस्मि ये विज्ञान पहले कह दिया उपन विज्ञान से भाव भाव का तेव ब्राह्मी भाव तेव एव कह दिया है एवते ते तुमको उपनिषद में क्या उपनिषदम अब्रुम इतुक्तामेव परमात्मा विद्याम उपनिषदम अब्रुम इत अवधारयति उत्तरार्थम उक्तामेव परमात्मा विषय परमात्मा विद्याम जो परमात्मा विद्या कही गई उसको ही अवधान करते तुमको कह दिया उपनिषद अब्रम इति अवधारे इति आचार्य अवधान करते निश्चय कर कहते किसले उत्तरार्थम आगे के लिए ठीक है हमें परम रहस्यम कहाँ कहा गया श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि ना उक्तम एव यही परम रहस्य है श्रोत्र से श्रोत्रम चक्षु से चक्षु कह करके वही ब्रह्म का पहले ही उपदेश किया है इत्यादि ना उत्तम एव परम रहस्यम कहा गया है उत्तरार्थम इति जो अभी भाष्य में आया अब्रमैते अवधारित उत्तरार्थम अवधारित निश्चय कर आचार्य का तुम को कह दिया जो पहले कहा हुई है सूत्र सूत्र इत्यादि विदिता विदिता भाम अन्यत भी कहा अन्य देवता तो विदिता तथा विदिता ददि इति ये प्रतीक रूप हुआ उत्तरार्थमेति उत्तर ग्रंथ उसका अर्थ करते उत्तर ग्रंथेन विद्या प्राप्ति उपाय विधानार्थम उक्ता विद्या निरपेक्षेवित अवधारयति उत्तर ग्रंथ न विद्या प्राप्ति उपाय विधानार्थम उत्तर ग्रंथ के द्वारा क्या ऐसे दीप उत्पत्ति के लिए तैल घृत अग्नि आदि की आवश्यकता है दीप हो जाने पर अंधकार निवृत्ति के लिए सहकारी की आवश्यकता नहीं है घट उत्पत्ति के लिए दंड चक्र कुलाल आदि की आवश्यकता है घट में पानी रखने के लिए दंड चक्र कुलाल की आवश्यकता नहीं उत्पन्न होने के बाद घट लेकर के पानी रखते हैं इसी प्रकार ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए सर्वापेक्षा से आदि सूत्र स्रोत आश्रम कर्म कर्म उपासना सब चाहिए भक्ति उपासना कर्म सब उपासना ही भक्ति है और उत्पन्न होने के बाद विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए अन्य सहकारी निरपेक्ष है किसी की अपेक्षा नहीं उत्ता जो विद्या कही गई निरपेक्षा एव अन्य की अपेक्षा नहीं ज्ञान मुख्य फल मुख्य फल देने के लिए इति अवधारयते इसे आचार्य अवधान करते अवधारणार्थत्वम प्रतिवचन से चोद्य मुखेन स्फुटेति अवधान के लिए करते ये निश्चय करते तुमको उपनिषद में कह दिया ये उपदेश हो गया ये जो उत्तर है प्रतिवचन आचार्य का उसका स्पष्ट कर स्फुट स्पष्ट करते चोद्य मुखेन चोद्य के द्वारा आक्षेप करके प्रश्न करके प्रश्न होता है पहले परमात्मा विषय वाच्य में परमात्मा विषयाम उपनिषदम श्रुतवत उपनिषदम भो ब्रूहित पृच्छत शिष्य से को अभिप्राय प्रतिवचन का अवधारण के लिए स्पष्टीकरण करने के लिए पहले प्रश्न है ये ये शिष्य का प्रश्न नहीं सामान्य प्रश्न होता है तो विचार करते हैं श्रुतवत उपनिषद उपनिषद सुन लिया गुरु ने उपदेश किया तो कहने सितम प्रश्न किया था फिर आचार्य उपदेश करते समय श्रवण किया एना कि प्रश्न कर दिया और आचार्य कहते समय ये कहीं भाग गया ऐसे तो नहीं होगा उपनिषद प्रारंभ हुआ सुन लिया आरंभ हो गया तो श्रवण करना है परमात्मा विषयाम उपनिषदम सब सुन लिया सुनने वाले शिष्य का फिर उपनिषदम भो ब्रूहिति पृच्छता पूछने वाले शिष्य का क्या अभिप्राय है फिर क्या पूछता है यदि तावच्छुत अर्थ से प्रश्न कृत पिष्टपेशनवत पिष्टपेषणवत पुनरुत्व का प्रश्न स्याद श्रुत अर्थ से प्रश्न जिस अर्थ को सुन लिया फिर उसका ही प्रश्न करते हैं शिष्य करता है अर्थ सुन लिया फिर उसका प्रश्न करता है तो इसको कहते पिष्टपेशनवत पीसना है कोई तंडुल आदि को पीसते चूर्ण करते हैं जो तंडुल पिसाने उसको लेकर पीसना चाहिए और जो पिसा हुआ उसको लेकर थोड़ी चक्की घुमाता है मैं पीस रहा हूं दिखाने के राम पीसे जो पिसा हुआ उसको पीसना है जो नहीं पिसा हुआ उसको लेकर पीसो और जो पिसा हुआ उसमें थोड़ा डालकर चक्की घुमाता है ये सिर हिलाते हैं बड़े जोर से परिश्रम कर रहे ये अनर्थक होता है पिष्ट से पेषण पिष्ट है पिसाया पिष्ट का पेषण जिस प्रकार अनर्थक है उसके समान कहा गया सुना सुनकर फिर कहते फिर फिर फिर कहता है उपनिषद कहिए तो अनर्थक होगा पिष्ठ पेषण तो पुनरुत है पुनरुति दोष से अनर्थक प्रश्न हो जाएगा अथ सावशेष उक्ता उपनिषद स्याद तत तस्या फलवचनेन उपसार न युक्त लोकाद अमृता भवन्ति यदि कहेंगे ना उपनिषद पूरा उपनिषद का कथन नहीं किया गया उपनिषद कही गई सावशेषा उक्ता उपनिषद स्यात् यदि उपनिषद सावशेषा उक्ता स्यात् उपनिषद तो कही गई किंतु सावशेषा अवशेषन सह इति सावशेषा अवशेष मतलब कुछ बाकी रहा कुछ बाकी है उसके कहा गया कुछ अवशेष रह गए उपनिषद का ऐसे कही गई ऐसे कही गए तो ऐसे तो ठीक नहीं सावशेष कैसे होगा यदि सावशेष होता तस्या फल वचन उपसार नहीं युक्त फल कथन करके उपसार नहीं करना चाहिए यदि कुछ और बाकी रहा तो फल कथन करके परा कर दिया तो मुक्ति फल बता दिया तो सावशेष कहने पर फल वचन के, के द्वारा उपसंहार नहीं करना चाहिए प्रत्यास्मा लोकाद अमृता भवंती पहले कह दिया ऐसे ज्ञान होने पर अस्मा लोकाद प्रत्या अमृत मुक्त हो जाते हैं फल वचन कर उप, उपसंहार कर दिया इससे सिद्ध होता है उपनिषद सावशेष नहीं कही गई पूरी पूरी कही गई है तो फिर प्रश्न क्यों है तो फिर आपसे प्रश्न तो व्यर्थ होता है तस्माद उक्त उपनिषद शेष विषय भी प्रश्न अनुपपन्न एवं अनवशिष्टत्व इसलिए जो उपनिषद कही गई तद विषय का प्रश्न कहेंगे ये भी प्रश्न नहीं होगा अनवशिष्टत्व तो कोई अवशेष नहीं पूरा पूरी पूरी उपनिषद का पूरा उपनिषद का उपदेश हो गया तो फिर प्रश्न क्यों है किम आगे भाष्य में कस्तरी अभिप्राय प्रस्तुत तो फिर पूछने वाले का क्या अभिप्राय पूछता है तो शिष्य का फिर क्या अभिप्राय यदि जो कहा गया उसको कहना अनर्थक पिष्ट पेषणवत और सावशेष कही गई कि तो पूछता है ये भी नहीं बनेगा संपूर्ण उपदेश का उपनिषद का उपनिषद उपनिषद का उपदेश हो गया क्योंकि फल वचन करके उपसार कर लिया तो सावशेष विषय का नहीं है इसे पूछने वाले का अभिप्राय क्या है इति उच्यते किम पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकार साधनांतर अपेक्षा अथ निरपेक्ष पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया पूर्वोक्त जो उपनिषद रहस्य विद्या ब्रह्म विद्या उसका शेष रूप से कोई साधन विधान करना तत्सहकार साधनांतर अपेक्षा अथ निरपेक्ष इसमें एक उपनिषद का शेष रूप से एक उपनिषद का सहकारी अंतर के लिए उपनिषद का शेष अंग और एक सहकारी अंग दो प्रकार होता है एक स्वरूपोपकार उपकार अंग होता है एक फलोपकार का अंग याग करते समय याग स्वरूप निष्पत्ति के लिए जो चाहिए और स्वरूप उपकार का अंग है वो सन्निपत्य उपकार कहते हैं और याग अपने फल देने के लिए जैसे दर्श पूर्णिमा से याग किया जाते छह याग छह याग करने के लिए याग के उपकरण जो जो चाहिए याग स्वरूप के लिए उपकार के है किंतु याग करने के बाद और पांच प्रयाज नाम के याग का विधान किया गया जो दर्श पूर्णिमास याग का अंग है वो अंगों का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो दर्श पूर्णिमा से छह याग करने पर भी स्वर्ग फल नहीं मिलेगा स्वर्ग फल देने के लिए उपकारक हो गए 6 दश पुनवास यह का अंग हो गए प्रयाज पांच है ये जो प्रयाज पांच हो गए वो पांच प्रयाज स्वरूप उपकारक नहीं अभी तो उपकारक क्योंकि पांच दस याक पूरा कर 6 याक पूरा करने के बाद भी आगे प्रयाज अनुसार करना है 6 याक पूरा हो गया स्वरूप निष्पन्न हो गया उसका पूर्व भी हो गया किंतु प्रयाज करेंगे तो प्रयाज ने अपूर्व होकर के दोनों मिलकर के परमा अपूर्व से स्वर्ग मिलेगा इसलिए प्रयाज अनुयाज जो याग है या का अंग है वो फलोपकारी अंग और दशपुरमास करते समय तंडुल घृत आदि जो जो आवश्यक होता है ये सब स्वरूपोपकार का अंग तो इसी प्रकार यहाँ प्रश्न होगा ब्रह्म विद्या स्वरूप के लिए उत्पत्ति के लिए ब्रह्म विद्या स्वरूप सहायक है या फलोपकारी ब्रह्म विद्या होने के बाद भी अन्य कुछ उपासना आदि करेंगे तो मोक्ष मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ लोगों का कथन करना है ब्रह्म विद्या हो जाने के बाद भी आगे कुछ उपासना करो कर्म करो मीमांसक लोग तो कहीं कर्म करो और कुछ लोग कहीं उपासना करो चिंतन करो खाली ज्ञान से कैसे होगा तो ज्ञान के बाद अन्य की साधना की अपेक्षा कहेंगे ये सहकारी और ज्ञान का साधन जो होगा उपनिषद का शेष अंग तो इसी दोनों प्रकार है ये प्रश्न किम पूर्वोक्त उपनिषद श्रेष्ठतया तो सहकारी साधनांतर पीछा ये अभिप्राय है इसी दो अभिप्राय आगे कहेंगे टीका में ही नहीं पहले टीका में देख रहा हूँ किम पूर्वोक्त उपनिषद श्रेष्ठतया अन्यत अपेक्षते पूर्वोक्त उपनिषद का शेष शेष मतलब अंग अन्य किसते अपेक्षित है शेष शब्द न फलोपकारी अंगम विवक्षितम उपनिषद का शेष अच्छा शेष शब्द से फलोपकारी अंग उपनिषद शेष फलोपकारी अंग यथा दर्शादे प्रयाज सहकारी शब्द से अच्छा इसमें अलग हो गया हाँ चलो यहाँ दो अलग अलग है शेष उपनिषद शेष कह करके शेष शब्द से यहाँ फलोपकारी अंग जैसे प्रयाज आदि है फलोपकारी इसे शेष शब्द से कहा कहें शेष शब्द से उसका अंग शेष मतलब ये कर लिया आगे कुछ करना है ये शेष हो गया मतलब पूर्णिमा से तो आप पूरा कर लिया करने के बाद अभी कर्म संपूर्ण नहीं हुआ कुछ शेष बाकी क्या बाकी है आगे प्रयाजों ने आज करना पड़ेगा तो शेष शब्द से फलोपकारी अंग कहा गया फलोपकारी होगा तो ये हो जाएगा आराध्य उपकार टिप्पणी में दिया है यथा दर्शादे प्रयाजादि दर्श और पूर्णमास दो दर्श है अमावस्या में पूर्णमास है अपनमास अमावस्या में तीन पूर्णमास में तीन मिलकर छह याग करते हैं दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम तो इसमें फलोपकार अंग जैसे प्रयाज हुआ और सहकारी शब्द न सहकारी शब्द न अनुपसजनमपि समुच्चारहम विवक्षितम उपसर्जन नहीं मुख्य है मुख्य होकर साथ मिलकर के सह करोति ते तो सहकारी मिलकर करेंगे जो स्वरूप उपकार का वो अलग है ये हो गया फलोपकारी अंग हो गया शेष शब्द से और सहकारी कहेंगे तो सब मिल करके अनुपसर्जन भी समुच्चयार हम उपसर्जन नहीं होने पर ही समुच्चय मिकटी करके विवक्षितम इसमें सातन वर्ण टिमन दिया यथा दर्शपुन्वासु दर्शन उपन्यास मिल करके स्वर्ग फल देंगे कोई उसमें गौण नहीं है कि साथ मिलकर सब एक सब मिल करके ही आगे स्वर्ग फल देंगे छह याग परस्पर सब प्रधान है छह कोई इसमें मुख्य गौण नहीं है छह प्रधान मिल करके ही सब फल देंगे ये हो गया शेष नहीं अंग सहकारी हां शेष हो गया तो प्रयाजी के समान उपकारी अंग और सहकारी शब्द से कहा अनुपसजनम अपि उपसजन नहीं मुख्य है समुच्चारहम समुच्चय के लिए युक्त योग्य विवक्षितम भाष्य में सहकारी हो गया मिलकर करते सहकरोति सहकारी साथ मिलकर कहें तो सहकारी हुआ और सब प्रधान होकर के और शेष कह करके उपनिषद शेष रूप से फलोपकार अंग का और स्वरूप का उपकार का अंग ये अलग है या नहीं कहा एक स्वरूप उपकार के है याग का उपकार है तो सन्निपत उपकार का आरद उपकार को विभाग अलग है यहाँ जो फल का उपकार के है उसका दो विभाग कर दिया वस्तुतः एक प्रयाज आदि अंग होकर के फल का उपकार के और समुच्चय होकर के दर्शपुनवास ये भी फल उपकार के और ये जो दर्शपुनवास है यह स्वरूप का तो उपकार का नहीं तो भी अंग होने के कारण जब तो अंग अनुसार नहीं होता है दस पुनवास कर्म स्वरूप समाप्त संपन्न नहीं हुआ इसलिए उसको अलग कर दिया एक हो गया दस पुनवास स्वरूप संपन्न होने के लिए अंग अनुसार भी करना चाहिए उसके पश्चात और दस पुनवास से छह याग पूरा करेंगे तो सब मिल करके सहकारी होंगे सहकारी सदन साधनांतर भाष्य में सापेक्षा चेद अपेक्षित विषयाम उपनिषद अमृत यदि अर्थ निरपेक्षा है वो प्रश्न हुआ क्या कोई शेष रूप से अथवा सहकार रूप से अन्य साधनी की अपेक्षा है अर्थ निरपेक्षा है वो जो उपनिषद का उपदेश हुआ वो निरपेक्षा ही उपनिषद मोक्ष फल देने के लिए अथवा कि अन्य की अपेक्षा है अन्य अपेक्षा में दो विभागे उपनिषद का शेष रूप से प्रयास जी के समान कोई चाहिए अथवा दर्श पुण्यवास मिल करके जैसे सहकारी होते हैं ऐसा अन्य कोई साधन है मुख्य मुख्य रूप से गौण नहीं होने पर भी दर्श पुण्यवास में प्रयाज तो होते गौण दर्श पुण्यवास से प्रधान है प्रयाज अंग और यहाँ तो सहकारी रूप से गौण नहीं दो सौ प्रधान है किंतु मिल करके छह याग होने पर दर्श पुण्यवास छह याग होगा तो इस रूप से यदि कोई अपेक्षा है अथवा निरपेक्षा है यदि अपेक्षा है सापेक्षा चेद अपेक्षित विषय उपनिषद भी जो अपेक्षित तद विषय को उपदेश कीजिए उपनिषद जी विद्या के लिए यदि अपेक्षित कुछ है कुछ अपेक्षा है तो बताइए क्या क्या चाहिए अथ निरपेक्षा चेद यदि कहीं ना कोई अपेक्षा नहीं है नहीं है तो स्पष्ट कर दीजिए इतने ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अवधारय पिपलादवन नाथ परमस्थिति एवं अभिप्राय पिपलाद ने कहा उनके पास महर्षि लोग गए उपदेश किया कहा इससे अधिक मैं नहीं जानता हूं नहीं जानता हूं तो कहीं शिष्य को शंका हो जाएगी मतलब और कुछ है कि नहीं जानते फिर इस आचार्य ने कहा नात परमस्ति ऐसे और कुछ है ही नहीं जो उपदेश करके सब उपदेश कर दिया आगे नहीं जानता अनात परमस्ति इसके आगे और कुछ नहीं ये पर्याप्त हो गया इसी प्रकार यदि निरपेक्षा है तो स्पष्ट कर दीजिए जैसे पिपाल पिपलाद महर्ष ने कहा था नाता परमस्ति ऐसे बताइए तो और कुछ अपेक्षा नहीं हम निश्चिंत हो जाएंगे ये शिष्य का अभिप्राय एतद टीका में एवं शिष्याभिप्राय उपवर्ण्य समाधान महा शिष्य का यह अभिप्राय प्रश्न का इसको भगवान भाष्यकार ने कथन किया अभी करके इसका समाधान कहते एतद उपपन्नम आचार्यस्य अवधान वचनम उक्ता तो उपनिषद इति इसलिए आचार्य का जो अवधान वचनम उक्ताते उपनिषद तुमको उपनिषद मैंने कह दी उक्ताते ते का तुभ्यम उपनिषद कह दिया उपनिषद का उपदेश कर लिया ये जो आचार्य का अवधान वचनम उपपन्नम ये ठीक है प्रामाणिक हुआ युक्ति युक्त है अवधान कथन तुमको कह दिया मैंने ननु नावधानमिदम कहते अवधान कैसे हुआ आगे तो कुछ कहेंगे अवधान तो नहीं तुमको कह दिया शंका करते ननु नावधारणम क्योंकि यह तो अन्यद वक्तव्यम आह यह तो अन्यद वक्तव्यम आह इसे पाठे इत्या इसे पाठे वक्तव्यम आह यह तो अन्यद वक्तव्यम आह अन्यत वक्तव्यम अन्यत वक्तव्य कहते तस्य तपो दम इत्यादि तसे तपोदम इत्यादि आगे कहेंगे तो वक्तव्यम है तो सावधान कैसे हो गया पूरा कैसे हो गया सिद्धांत कहते सत्यम वक्तव्यम उच्यते आचार्यण न तो उक्त उपनिषद शेषतया तो सहकार साधनांतर अभिप्राण वा कहेंगे उच्यते आचार्य आगे कह आचार्य कहेंगे कह रहे हैं कहने वाले हैं किंतु न तो उक्त उपनिषद शेषतया उपनिषद का शेष अंग रूप से नहीं है अतः सहकारी साधनांतर अभिप्राय सहकारी साधनांतर अन्य साधना जैसे दर्श पूर्ण छह सहकारी परस्पर मिल करके अन्य कोई साधन चाहिए मिलकर करेंगे इस अभिप्राय से नहीं है तो फिर क्यों कहा गया किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उभा अभिप्राय है ना ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्राय ना ये जैसे दर्श पुनवास या करने के लिए स्वरूप निष्पादक ये दो अलग हो गए तीन विभाग कर दिया एक तो स्वरूप उपकार का ये आगे कहेंगे जैसे घट उत्पत्ति के लिए दंड चक्र कुलाली की आवश्यकता है ये अभी कहेंगे और उसमें एक हो गया याग करने के बाद भी उसका कुछ शेष बाकी रहा कर्म उसको भी करना चाहिए जैसे कुलाल घट बना देने के बाद भी और कुछ थोड़ा रहता है ऊपर कुछ मिट्टी है काटता है कुछ तारा साफ है थोड़ा मिट्टी कहीं लग गया कोई कम हो गया और कहीं ठुकना है थोड़ा कहीं ठुक देता है ऐसे करके फिर रखा देता फिर सुखाना पकाना ये सब शेष है घट उत्पत्ति होने के बाद भी शेष कर्म है घड़ा बन गया इतने लेकर के बिक्री करें पानी रखने के लिए रखे ना नहीं घड़ा बन गया दंड चक्र से घड़ा बना दिया बना के रख दिया सूख गया ले लेगा बिक्री करने के लिए पकाना पड़ेगा फिर ये हो गया प्रयाज अनुयाज के समान कुछ बाकी हो गया शेष और जैसे प्रयाज अनुयाज करने के बाद भी दर्श पूर्णिमा यह प्रयाज अनुयाज हो गए शेष और दो छह याग होते दर्श पूर्णिमा में उसमें अहंगांगी भाव नहीं सब गौण कोई नहीं अनुपस्थित होना अनुपसरण होने पर सब मिल करके छह में से एक कर छोड़ दिया पांच कर दिया तो नहीं चलेगा पूरा छह करना पड़ेगा अच्छे करने के बाद ही प्रयाज अनुयाज करना पड़ेगा ये दो विभाग हो गए किंतु और एक होता है का याग दस छह याग में से एक या एक एक याग की पूर्ति के लिए संपादन करने के लिए जो आवश्यक है वो का इसी प्रकार विद्या होने के बाद ना तो कोई शेष आगे कुछ करना है ना और कोई मिल करके कोई कहते विद्या और कर्म दोनों मिल करके मोक्ष देंगे मिल करके देंगे तो ये हो जाएगा ये जिस प्रकार दर्श परस्पर सहकारी के कारण कर्म समुचित विद्या विद्या समुचित कर्म मानेंगे ये सहकारी साधना अंतर की अपेक्षा एक कल्प है और दूसरा है उपनिषद हो विद्या हो गई उसके बाद कुछ बाकी रहा क्या बाकी रहा फिर उपासना चिंतन करो समझ ला तो उसका चिंतन करो ये दो मत है विद्या होने के बाद ब्रह्म विद्या होने के बाद कुछ कहेंगे उसकी उपासना करो ये शेष वाक्य रहा ज्ञान हो गया तो चिंतन करो क्योंकि जिनका ज्ञान हुआ उनका चिंतन करना चाहिए स्मरण करो और नहीं तो कर्म करने पर ही विद्या कर्म समुचित होकर फल देंगे ये दोनों प्रकार नहीं है किंतु विद्या की उत्पत्ति के लिए साधना आवश्यक है ये अभी कहेंगे यहाँ जो कहेंगे इसी प्रकार ने शेष रूप से कोई बचा प्रयाज अनुयाज के समान ऐसा नहीं दशव पूर्णमास छह याग जैसे सहकारी करे ऐसा भी नहीं किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो उपाय किस प्रकार ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी ब्रह्म विद्या होने पर और ना कोई शेष है ना कोई सहकारी किंतु प्राप्ति कैसे होगी इसलिए ब्रह्म विद्या का साधन यज्ञ तमे तम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधि संति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकन यज्ञ दान तप एसो ज्ञान उत्पत्ति का साधन इस प्रकार ब्रह्म विद्या की प्राप्ति यही ज्ञान की प्राप्ति उत्पत्ति उसके उपाय क्या है किस उपाय से प्राप्ति होगी इस अभिप्राय से कहेंगे वेदेश तदंगिश्च सह पाठेन समीकरणात क्योंकि जो तपादि कहेंगे तप प्रभृति नाम तपादि क्या है वेद ही तदंगिश्च सह पाठेन वेद रंग के साथ साथ पाठ समीकरण तपा प्रभृति नाम तपादि वेद वेद के अंग इनके समान तप आदि तप के समान तप जिस प्रकार विद्या प्राप्ति का साधन वेद अंग तप इस विद्या प्राप्ति का साधन है नहीं वेदानाम शिक्षादि अंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्वम सहकारी साधनत्वम बा क्योंकि वेद अतः शिक्षा कल्प व्याकरण निरुत छंद ज्योतिष चे अंग है वेद चार है और शिक्षा विचय अंग है ये वेद अथवा अंग सब मिल करके साक्षात ब्रह्म विद्या का शेष है ब्रह्म विद्या हो गई उसके बाद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त आदि पढ़ो ये कोई ऐसा नहीं शेष नहीं साक्षात नहीं अतः सहकारी ब्रह्म विद्या भी हो वो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त सब ज्ञान हो तभी मोक्ष मिलेगा ये भी नहीं है तो वेदानाम शिक्षा देंगानाम से ब्रह्म विद्या से ऐसा साक्षात नहीं है और दूसरा है तत्सहकारी तो साधनत्वम ऐसा नहीं है इसलिए वो जिस प्रकार उत्पत्ति के लिए साधन है वेद अंगों का उत्पत्ति के लिए साधन है इसी प्रकार तप आदि उत्पत्ति का साधन ना कि शेष अथवा सहकारी ऐसा नहीं है ब्रह्म विद्या होने के बाद कुछ बचा है तप करना है ऐसा नहीं है अर्थात ब्रह्म विद्या और कर्म कुछ करना तब मोक्ष मिलेगा ये भी नहीं है तो फिर के लिए किस लिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए क्योंकि शिक्षा आदि वेद आदि ये सहकारी नहीं और शेष भी नहीं साक्षात किंतु ज्ञान उत्पत्ति के लिए वेदानुवचन है ना वेद आदि भी ये साध्य अध्ययन आदि ज्ञान उत्पत्ति का साधन है ज्ञान का साधन है टीका में विद्यांगत्व ही नहीं सहपाठात तप प्रभृतिना विद्यांगत्वम नास्ति युक्तम विद्यांग्य तो ही नहीं स विद्यांगत्वम वेद में अंग में विद्या साधनत्व नहीं है विद्यांग मतलब किस प्रकार सहकारी साधन अथवा शेष इस रूप से अंगत्व नहीं है उनके साथ तपादि पढ़ गया इसे तप में भी विद्यांगत्व नास्ति विद्यांगत्व मतलब विद्या का शेष अथवा विद्या का सहकारी तप आदि नहीं है शेष किस प्रकार शेष नहीं जिस प्रकार दर्श पूर्णमास का शेष प्रयाज दर्श पुनर्वास करने के बाद प्रयाज अनुसार करना पड़ता है इसी प्रकार ब्रह्म विद्या के बाद तप आदि करना चाहिए ऐसा नहीं है और दूसरा है सहकारी सहकारी जिस प्रकार दोनों मिल करके दर्श पूर्णमास छह आगे मिल करके फल देंगे इस प्रकार विद्या और कर्म मिल करके फल देंगे ऐसा नहीं है इसलिए दोनों प्रकार नहीं है विद्यांगत्व ही नहीं सपाठात वेद अंग में साक्षात ब्रह्म विद्या श्रेष्ठत्व नहीं है सहकारी साधनत्व भी नहीं है उनके साथ तपादि पढ़ने से तपादि भी ब्रह्म विद्या का न तो शेष न तो सहकारी तो फिर तपादि किसके लिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए विद्यांग तो ही नहीं सपाठात कस्य सपाठात सपाठात सपाठ किसका हाँ सह पाठा तप प्रवृत्तिना तप प्रवृत्तिनाम सह पाठा केन स विद्यांग हि ही नहीं विद्यांगत हि ही नहीं कई विद्यांगत हि न कौन है विद्यांगत हि नहीं सह पाठात विद्यांगत हि न के साथ पाठ होने से विद्यांगत हि नहीं वेदेहि अंगेहि सह पाठात वेद और अंगों के साथ पाठ होने से क्योंकि वेद और अंग विद्या का अंग अं, वेद और शिक्षा कल्प आदि अंग वेद का अंग नहीं है किस प्रकार अंग नहीं शेष नहीं सहकारी भी नहीं कौन नहीं वेद और वेदांग उनके साथ तप को पढ़ा विद्यांग तो ही नहीं वेद ही वेदांग ही स पाठात केसाम तप प्रवृत्ति नाम पाठात विद्यांग तो नास्ति कस्य विद्यांग तो नास्ति हां तप प्रवृत्ति नाम विद्यांग तो नास्ति उत्तम तप आदि विद्या का अंग नहीं किस प्रकार जिस प्रकार विद्या का अंग नहीं है वेद अथवा वेदांग इसी प्रकार अंग मतलब शेष नहीं और सहकारी भी नहीं फिर क्या है तपादि की क्या आवश्यकता है तत्र योग्यता अवसेन शेष शेषी भाव सपाठस्तु अकिंचित कर योग्यता अवसेन सविशेष शेषी भाव उनकी उत्पत्ति के साधन है उत्पत्ति साधन न कि सहपाठ होने से अंगांगी अकिंचित कर ना तो सहपाठ होने से ना तो शेष ना भी सहकारी विद्या होने के बाद और कुछ करना है अंग रूप से ऐसा नहीं है अथवा सहकारी ऐसा नहीं इति शंका पूर्व कहता है यो शेषे शेषी भाव जो कहा है सहपाठ तो किंचित कर तो सहपाठ होने पर भी अंकुश कुछ जरूरत नहीं मतलब नहीं जे सहपाठ हो गया तो क्या हो गया विद्यांग हो नहीं कुछ जरूरत नहीं अथवा तपादि व्यर्थ है इसे कहने व्यर्थ नहीं विद्या की उत्पत्ति के लिए चाहिए शंका करता है पूर्व सह पठितानामपि यथा योग्यं विभज्य विनियोग स्यादिति सहपठित होने पर भी विद्या के साथ सहपठित होने पर भी यथा योग्यं विभज्य विनियोग आद योग्यता के अनुसार उनका विनियोग होगा सह पढ़ने मात्र से दर्श पुनर्वास छह मिलकर के सहकारी होते समुचित सब प्रधान है किन सब का सब मिल करके इसी प्रकार नहीं है विद्या के साथ उपाधि का और प्रयाज अन्याज भी दर्श पुनवास के साथ पढ़े गए वो शेष है दर्श पुनवास से या करने के बाद पांच प्रयाज करना पड़ेगा किंतु यहाँ सपठित होने पर भी यथा सामर्थ्य के अनुसार जिसमें ये योग्यता है ऐसा विनियोग होगा राजा सेना के साथ जा रहे हैं तो सेना के साथ जाएंगे तो सेना जो काम करेंगे राजा वही काम करेगा ना राजा जो काम करे सेना भी काम करेंगे राजा जाकर अपने बैठेगा सेना में जाकर अपने कमरे सो जाएंगे <laughs> राजा के साथ सेना जा रहे हैं तो आचार्य जाने के पहले शिष्य चल जाए इस तरह तो ही होता है साथ होने पर भी जो योग्यता के अनुसार करना पड़ेगा साथ पढ़ने मात्र से नहीं साथ रहते तभी तो नहीं कोई कोई कहते हैं कि महात्मा किसी बड़े महात्मा का नाम जो लेंगे हाँ हम साथ साथ रहते थे साथ साथ कैसे रहते जिनसे पढ़ते हैं जिनसे पढ़ते हैं वो साथ साथ रहते ना नहीं तो जिनसे पढ़ा हुआ है पाँच दस वर्ष पढ़ा है बोले हाँ हम तो साथ साथ रहते थे साथ साथ रहते साथ साथ रोटी खाते थे रोटी खाते हम एक लाइन में बैठते ना नहीं साथ साथ खाते ही रहते भी साथ साथ एक स्थान में रहते एक मंदिर में आरती में आते एक साथ रहते एक साथ साथ रहते थे ये नहीं कहे हम उनसे पढ़े करके ऐसे कभी कभी बोले हाँ, हम साथ साथ रहते थे बिल्कुल बहुत दिन नहीं साथ साथ रहे तो इसी प्रकार साथ साथ रहना ये योग्यता के अनुसार साथ रहने पर भी योग्यता के अनुसार भेद होता है पूर्व कहता है सहपठिता नाम अपि यथा योग्यम विभज्य विनियोग ये तो सिद्धांत का है सहपाठ होने पर ही योग्यता के अनुसार विवाह करके विनियोग करना पड़ेगा कोई तो सहकारी होता है समुचित दोनों मुख्य है कोई मुख्य गौण होकर के प्रयोजन जाय के समान और कोई उत्पत्ति का साधन ऐसे विनियोग करना पड़ेगा एक, एक करने के बाद दस पुनर्वास 6 या करने के बाद प्रयास करेंगे वो क्या हुआ शेष हुआ और दस छः याग पूरा मिलकर करेंगे तो सहकारी हुआ और एक एक याग उत्पत्ति के लिए साधन चाहिए ना नहीं हाँ उत्पत्ति के साधन जैसे घट उत्पत्ति के लिए घट में पानी लाने के लिए कोई साधन जरूरत नहीं क्यों घट बनाने के बाद जैसे पकाते शेष हो गया इसी प्रकार घट में पानी लाने के सो घट को लेकर कुछ करना हुआ लगे किंतु घट की उत्पत्ति के लिए दंड चक्र कुलाल आदि की आवश्यकता है जिसकी आवश्यकता घट बनने के बाद नहीं होती है घट बनने के बाद दंड चाहिए हाँ, कुलाल तो पकाएगा फिर घट बन गया फिर पकाएगा पूरा घट बनाने वाला कुलाल ऐसे भोजन पकाना भात पकाना भात पकाना मतलब तो डेक्ची रख रहे पानी रखो चावल डाल दो कर चल जाओ यही पचती पचती का अर्थ बिल्कुल आरंभ से के अंत तक अंत तो पकाने के बाद बर्तन को उठा कर चोली से हटा कर बाहर रखो तब तक पचति आया था किसी में व्याकरण में अच्छा खंडन में आया था पचति हां पचति न्याय क्या है पचति का अर्थ कहां से लेकर कहा प्रारंभ से अंत तक पचति नहीं कि उसमें चूल्हा में रख दिया अग्नि जा दिया जाकर सो गया वो सो गया तो भात भी खत्म हो जाए अग्नि उसको समाप्त तो कर लेगी इसलिए प्रारंभ से अंत तक कुलाली भी घटा बनाता है तो पहले बनाया सुखाया फिर पकाएगा सो करेगा तभी तो घट तैयार होता है तो यहाँ ये ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए साधन ब्रह्म विद्या होने के बाद कोई सहकार आदि नहीं है ऐसा विभाग विनियोग होगा स्यादिति चेद यथा सुक्त वाका अनुमंत्रण मंत्राणाम यथा देवतम विभागस तथा तपो दम कर्म आदि नाम ब्रह्म विद्या शेषत्वम सहकार साधनत्वम वाइति कल्प्यते अभी पूर्व पक्षी शंका करता है शेष होना चाहिए नहीं तो सहकार साधन होना चाहिए ये शंका करता है इसमें कर्म करने के बाद कुछ मंत्र है देवताओं का विसर्जन करने के लिए देवता अनुमंत्रण मंत्र है देवताओं का विसर्जन करने के लिए कुछ मंत्र बोल करके उनकी प्रस्तुति करके करते हैं कर्म करने के लिए जैसे कभी कोई लोक में कुछ करने के लिए बहुत लोग बुलाते हैं बुलाते थे फिर उनको सत्कार करके आगे छोड़ते हैं जब छोड़ना होता है सब कह करके सम्मान करके सबको किसको दक्षिणा किसको सम्मान कैसे करके इसी प्रकार देवताओं का आवाहन किया जाता है कर्म करते समय आवाहन कर कर्म करने के बाद देवताओं का सम्मान पूजा करके प्रणाम सम्मान करने के बाद फिर कुछ मंत्र बोल करके उनका विसर्जन करना होता है स्वस्थानम गच्छ अपने अपने स्थानों में जाने के लिए मंत्र बोल के विसर्जन करना है फिर प्रार्थना करते फिर कभी जैसे बंधु बांधव लोग कोई आए फिर आना आगे के लिए पहले से निमंत्रण देते थे अभी आए उनको छोड़ते फिर कहते फिर आना इसी प्रकार देवताओं की भी प्रार्थना करते फिर कभी आना और ऐसे करने से फिर देवताओं को आवाहन करने से आएंगे संतुष्ट करना है ऐसे कुछ मंत्र है मंत्र में से विभिन्न मंत्र देवताओं का नाम है तो कर मंत्र मंत्र पाठ करना है तो मंत्र पाठ करते समय किस देवता का जिस देवता का नाम है उसे नाम बोलेंगे यदि देवता जिनका विसर्जन करना है उन देवता का नाम लेना या अन्य देवता का नाम लेकर उनको कहना <laughs> ये को सिखाते हैं कोई कोई किसको आए तो आप इसे कहना जैसे दादाजी आप आए बहुत अच्छा क्या ऐसे सिखा रहे थे ना बताना तो प्रणाम करना घर में कोई आया तो सिखाते हैं तो कहने के लिए मामा खड़े कर दादा जी आप आए अच्छा ऐसे बोलेगा मामा को मामा जी आप आए कहेंगे और दादा आए तो उनको दादा जी कहेंगे अन्य कोई आए तो उनको कहेंगे नाना जी आप आए अन्य तो नाना को बोले दादाजी आप आए या भाई साहब आपने आया ऐसे होगा क्या ऐसे पहले मंत्र बोलते समय जिस देवता का विसर्जन उस देवता का नाम लेना पड़ेगा मंत्र से एक साथ पढ़ दिया एक साथ पढ़ दिया बहुत मंत्र है सब देवता बहुत तो नाम का है तो जिन देवता के विसर्जन करना उनके नाम वाले मंत्र को बोलना उनका नाम नहीं तो नाम रख करके अन्य नाम हटा कर बोलना पड़ेगा सिखाने वाले बता जाए ऐसे बोलना तुमको ऐसे बोलना ओ जा करके ऐसे बोलना ऐसा पिताजी ने कहा बोलने के लिए तो जिनको बोले भाई साहब तो वहाँ जा करके नाना भी आए उनको क्या भाई साहब मामा जी आए गए भाई साहब ऐसे बोलेगा इसलिए ये यथा योग्यम विवाह करके विनियोग होता है अभी आगे है सुप्ता वाक अनुमंत्रण मंत्राणाम ये मंत्र मीमांसा में आता है इसको आगे बताएंगे कैसे मंत्र का पाठ किया जाता है और मंत्र का अर्थ क्या है कहेंगे अन्न अमुक अमुक देवता आए उनकी पूजा हुई उन्होंने हवि ग्रहण किया हवि ग्रहण करके फूल गए फिर प्रसन्न हो गए फिर अभी गए ऐसे ऐसे करके उनको बोलना पड़ेगा तब तो देवता लोग प्रसन्न होकर के फल देंगे लोगों को कोई बुलाते तो फिर उनको प्रसन्न करके छोड़ना होता है दुखी करके नहीं प्रसन्न करके फिर बोलते इसे में वेद में कर्म करते समय कुछ मंत्र है वो मंत्र का कैसे विनियोग होता है वो आगे बताएंगे ओम आप्यायन्तु ममांगा